ओशो पद घुंघरू band talks on the songs of Meera from the series Juk Badriya Saman Ki given at Osho Commune International, Pune, India. Discourse number 18. मैं असहाय हूं मैं बेबस हूं मैं क्या करूं असहाय हो बेबस हो फिर भी कुछ करना चाहते हो असहाय हो बेबस हो अब तो करना छोड़ो कृत्य पर भरोसा कब छोड़ोगे कृत्य पर भरोसा छूट जाए तो जो होना है अभी हो जाए मीरा की सुनो करने से ही परमात्मा मिलता होता तो मिल ही नहीं सकता था आदमी की करने की बड़ी सीमा है जो कर सकते हैं उनका करना भी क्षुद्र है आदमी कर ही क्या सकेगा हाथ छोटे चांतारों की तरफ बढ़ा सकते हो लेकिन पा थोड़ी पाओगे और चांतारों की तरफ बढ़े हुए हाथ सिर्फ तुम्हारी भूख की खबर देते तुम्हारे प्यास की खबर देते और जितने तुम हाथ बढ़ाओगे उतने तुम विशास से भर जाओगे क्योंकि हाथ बढ़े रह जाते पहुंचते नहीं हाथ छोटे जिस दिन तुम्हें ये ठीक ठीक समझ में आ जाए कि मैं असहाय हूं उस क्षण तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे और कुछ भी करने को नहीं है और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम आंसू लाना लाए गए आंसू दो कौड़ी के लाए गए आंसू तो अभिनय मैं कह रहा हूं आंसू आएंगे जब तुम परिपूर्ण असहाय अवस्था को समझोगे मतधार में डूबते हुए न ये किनारा दिखाई पड़ता न वह किनारा दिखाई पड़ता सहारों की कौन कहे तिनकों का सहारा भी नहीं कोई आशा नहीं सब तरफ अंधकार है और निराशा है उस परम हताशा की दशा में आंसू आएंगे अपने से आएंगे सारा प्राण आंसू बन जाएगा वैसे ही आंसू प्रार्थना बनते प्रार्थना की नहीं जाती होती है आह उठेगी तुम उठाओगे ऐसा नहीं तुम्हारी उठाई आय का क्या मूल्य हो सकता है तुम्हारे बावजूद उठेगी तुम ना भी उठाना चाहो तो उठेगी वही आह प्रार्थना बन जाती तुम कहते तो हो कि मैं असहाय हूं मैं बेबस हूं लेकिन सुनी सुनाई कहते हो तुमने बात गुनी नहीं तुमने बात पर बहुत ध्यान नहीं दिया ये बात तुम्हारे अनुभव से नहीं आती नहीं तो फिर तुम ये ना पूछते कि मैं क्या करूं करने में तो बल है करने में तो अभी भरोसा कायम है करने में तो अहंकार है करने वाला सोचता है शायद अभी जिस ढंग से कर रहा था वो ढंग गलत था तो नए ढंग से करूंगा जिस राह से चलता था वो राह गलत थी तो नई राह खोज लूंगा ये असहाय अवस्था नहीं है असहाय अवस्था का अर्थ ही यही है कि मैं किसी भी राह से चलूं तो मैं ही चलूंगा ना मेरे पैर छोटे मेरी क्षमता छोटी ये राह की गलती नहीं है मैं पहुंच ही नहीं सकता मेरी तरह मैं पहुंच ही नहीं सकता ये विधि की गलती नहीं है विधान की गलती नहीं है मार्ग की गलती नहीं शास्त्र की गलती नहीं मुझे ठीक शास्त्र मिल जाए तो भी नहीं पहुंच सकता मुझे ठीक मार्ग मिल जाए तो भी नहीं पहुंच सकता मैं ही कमजोर हूं जब ऐसी प्रतीति होती कि मैं ही कमजोर हूं तुम गिर जाते एक ढेर की तरह उसी ढेर से उठती है प्रार्थना की नहीं जाती उसी ढेर में भक्ति का आविर्भाव होता है उसी ढेर में तुम गिर पड़े ढेर की तरह परमात्मा तुम्हें तलाशता आता है जब तक तुम्हें यह अस्मिता है कि मैं कुछ कर लूंगा तब तक परमात्मा सोचता है अभी तुम कर ही रहे हो अभी बीच में बाधा देने की जरूरत भी क्या है मुझे बड़ी प्यारी कथा है जिसको मैं निरंतर कहता हूं कृष्ण भोजन को बैठे एक कौर मुंह में लिया है दूसरा लेने को है कि छोड़ के उठ खड़े हुए रुकमणी पंखा झलती है उसने पूछा कहा जाते लेकिन उत्तर भी ना दिया भागे द्वार की तरफ लेकिन फिर दहरी पर ठिटक के खड़े हो गए लौट आए उदास फिर थाली पर बैठ भोजन करने लगे रुक्मणी ने कहा आप अचानक भागे उससे तो मन में बड़ा प्रश्न उठा था कि क्या हुआ किस लिए जा रहे हैं जैसे कहीं आग लग गई हो उत्तर देने का भी आपके पास समय नहीं था मैंने पूछा कहा जाते हैं थाली अधूरी छोड़कर उत्तर भी नहीं दिया उससे तो प्रश्न उठा ही था अब और प्रश्न उठता है दूसरा कि द्वार पर ठिठक क्यों गए मैं तो अंधी हूं मुझे दिखाई नहीं पड़ता मुझे कुछ कहें मेरी जिज्ञासा शांत करें फिर लौट क्यों आए गए इतनी तेजी से फिर इतनी उदासी से लौट क्यों आए कृष्ण ने कहा मेरा एक प्यारा है एक राजधानी से गुजर रहा है फकीर है नंगा फकीर है अपना एक तारा बजा रहा है एक तारे के सिवाय उसके पास और कुछ भी नहीं उस एक तारे में भी मेरे नाम की धुन के सिवाय और कोई धुन नहीं उसके तन प्राण में मैं ही बसा लोग पत्थर मार रहे हैं लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं लोग उसे पागल समझ रहे हैं उसके माथे से खून की धार बह रही और वो एक तारे पर मेरा ही गुणगान किया जाता है इसलिए आधा कौर गिरा के दौड़ना पड़ा दौड़ना ही पड़ेगा इतना असहाय है रुक्मणी ने पूछा फिर लौट क्यों आए तो कृष्ण ने कहा जब तक मैं द्वार पर पहुंचू तब तक उसने एक तारा नीचे पटक दिया और पत्थर हाथ में उठा लिए अब मेरी कोई जरूरत ना रही अब वो खुद ही उत्तर देने में तत्पर हो गया है अब मेरा जाना व्यर्थ है जरा और रुक जाता तो मैं पहुंच गया होता मगर अब एक तारा गिर गया है एक तारे में मेरे उठते नाम की धुन गिर गई उसके भीतर से मैं विलीन हो गया हूं जैसे वो मुझे भूल गया क्षण भर को मेरो मन बड़ो हरामी शायद वर्षों से हरी गीत गाता हो और इन पत्थरों की चोट ने सब भुला दिया मन खिसक आया नीचे उत्तर देने को तैयार हो गया पत्थर हाथ में उठा लिए प्रतिशोध की अग्नि जल उठी प्रार्थना खो गई प्रार्थना राख हो गई कृष्ण को जाने की जरूरत न रही ये कथा मधुर है सूचक है गहन संकेत है इसमें तुम जब ढेर की तरह पड़ जाते हो जब तुम जानते हो मेरे किए कुछ भी ना होगा पूछते भी नहीं कि मैं क्या करूं जानते ही हो कि मेरे किए कुछ भी ना होगा और कब जानोगे ये कितने जन्मों से कर रहे हो कुछ भी तो नहीं हुआ सब तो उपाय कर लिए सब तो योग जब तप कर लिए सब तो विधि विधान कर लिए यज्ञ हवन पूजा पाठ कितने मंदिरों में नहीं गए कितनी मूर्तियों के सामने सिर नहीं पटका मस्जिद में मंदिर में गुरुद्वारे में चर्च में कहा नहीं गए सब जगह हो आए हो चारों धाम कर लिए अब तो समझो कि मेरे किए कुछ भी ना होगा क्योंकि मैं ही कुछ नहीं हूं तो मेरे किए क्या हो सकता है मैं ही नहीं हूं तो मेरे किए क्या हो सकता है इस नहीं से कैसे कोई कृत्य निकलेगा मैं एक शून्य मात्र हूं मेरी तरह मैं शून्य हूं परमात्मा की तरह मैं पूर्ण हूं लेकिन परमात्मा की तरह मेरी तरह नहीं मेरी तरह तो मैं नपुंसक हूं परमात्मा की तरह सर्वशक्तिमान हूं लेकिन परमात्मा की तरह और जब परमात्मा है तो मैं नहीं हूं और जब तक मैं हूं तो परमात्मा नहीं तो मत पूछो कि क्या करूं भक्ति उठती तभी है जब सब करना छूट जाता है और इसका ये अर्थ नहीं कि भक्त कुछ नहीं करता भक्त का करना छूट जाता है फिर परमात्मा उससे करता है भक्त का करना जब छूट जाता है तभी असल करना शुरू होता है फिर भगवान करता है फिर भक्त निमित्त मात्र है बहुत होता भक्त से लेकिन भक्त करता नहीं होता माध्यम हो जाता है जैसे वांसुरी बाधक बांसुरी को ओठ पर रखकर गीत गाता है ऐसे ही भक्त को ओठ पर रखकर भगवान गीत गाता भक्त बांसुरी हो जाता है बांसुरी में क्या है पोला बांस का टुकड़ा है ऐसा ही भक्त पोले बांस का टुकड़ा हो जाता है कुछ भी नहीं खाली है खाली है इसलिए आवाज गीत बन के बह सकती भरा हो तो फिर नहीं बह सकती बांस की बांसुरी बनती है और किसी लकड़ी की नहीं बनती क्यों क्या बांस कोई आखिरी बात है लकड़ियों में सुंदर लकड़ियां हैं बहुमूल्य लकड़ियां हैं बांस भी कोई बात है बांस की कोई कीमत है लेकिन बांसुरी बनती बांस से देवदार से नहीं चीड़ से नहीं टीक से नहीं लेबनान के सीदारों से नहीं आकाश छूते बड़े बड़े वृक्ष उनसे नहीं बनती बनती है बांस की पोंगरी से क्या खूबी है बांस की क्या राज है बांस का जो राज बांस का है वही राज भक्त का है भक्त बांसुरी बनता है तपस्वी त्यागी नहीं बनते तपस्वी त्यागी आकाश में उठे लेबनान के दरख्त लेबनान के सीदार है बड़ी उनकी अकड़ है बड़ा उनका बल है दूर जमीन में फैली उनकी जड़ें तब की तपश्चर्या की उनका इतिहास है भक्त का क्या इतिहास दीनहीन मांस की पोंगड़ी मगर भक्त बनता है परमात्मा के गीत का वाहन देखो ना मीरा को जैसा मीरा गाई कौन तपस्वी गाया है जैसा मीरा गाई कौन योगी गाया है जैसी मीरा नाची कौन कब नाचा है मीरा बेजोड़ है कला क्या है मीरा की बांस की पोंगरी एक बात जान ली कि मेरे के कुछ भी ना होगा क्योंकि मैं ही नहीं हूं कृत तो तब उठे जब मेरा होना सिद्ध हो मेरा होना ही सिद्ध नहीं होता तो कृत्य कैसे उठेगा कृत्य जाता है मैं जाता है तब कोई बहने लगता है अज्ञात लोक से कोई उतरने लगता है कोई किरण आती दूर से कोई गीत आता दूर से कोई नृत्य आता दूर से भर जाता है तुम्हें आपूर कर जाता है तुम्हें इतना भर देता है कि तुम्हारे ऊपर से बहने लगता है दूसरों को भी मिलने लगता है बाढ़ आ जाती है तुम ये पूछो ही मत कि मैं क्या करूं असहाय हो बस असहाय ही रह जाओ अब करने को मत जोड़ो करने को जोड़ने का मतलब है कि फिर तुम असहाय ना रहे फिर कुछ करने लगे बेबस हो अब बेबस ही हो जाओ अब इसमें जोड़ो मत कुछ करना अब पत्थर मत उठाओ अन्यथा आते कृष्ण रुक जाएंगे दहली पर रुक जाएंगे अब जो प्रभु कराए उसे होने दो उससे अन्यथा की चाह भी मत करो मांग भी मत करो तब तुम्हें कला आ गई भक्ति की असहाय अवस्था में पूरी तरह डूब जाना भक्ति का जन्म है नारद के सूत्रों को पढ़ के तुम भक्ति ना समझ पाओगे भक्ति का शास्त्र समझना हो असहाय हो जाओ वो राग छेड़ तरुन्नम की जो करे तस्कील सुना वो नगमा जो तकलीक सो जो साज करे तेरा वजूद हकीकत को दे लबासे मजाज कि जिससे फकर बहार कायनात नाच करे तेरा गुजर हो चमन को नबीत रंगोबू गुलों को फसले बहारा से बेन्याज करे तू ऐसे जी की जमाना ब इख्तियारे तमाम तेरी गरीबी तेरी बेबसी पे नाच करे जिससे शिकायतों हो हुस्न से वो इश्क नहीं हवस है लाला हो गुल में जो इम्तियाज करे कभी जो कहना पड़े कुछ तो ऐसी बात कहो जो सबको अपने अहल नजर आशनाए राज करे तू ऐसे जी के जमाना बाख्तियारे तमाम तेरी गरीबी तेरी बेबसी पे नाच करे भक्त ऐसे ही जीता है कि उसकी गरीबी उसकी बेबसी उसकी असहाय अवस्था ही उसका साम्राज्य बन जाती उसकी समृद्धि बन जाती खोके ही भक्त पा लेता है मिटके ही हो जाता है अपने को ना कुछ जान के परमात्मा को झेलने का हकदार हो जाता है अपने को पहुंच के मिटा के परमात्मा को पाने की पात्रता बन जाता है तू ऐसे जी की जमाना बाख्तियारे तमाम तेरी गरीबी तेरी बेबसी पर नाच करे अब तक जमाना नाच करता मीरा पर राज क्या है मीरा का मीरा हुई इससे पृथ्वी सुंदर हुई मीरा हुई इससे मनुष्य के इतिहास में रंग पड़ा मीरा हुई इस मनुष्य के सौभाग्य में चार चांद जुड़े और मीरा का राज क्या है मीरा ने किया क्या है महावीर ने बारह वर्ष तपस्या की मीरा ने क्या किया बुद्ध ने छह वर्ष अथक श्रम किया मीरा ने क्या किया कुछ भी नहीं किया इसलिए तो जैन से अगर पूछोगे तो जैन कहेगा तपस्या क्या की उपवास कितने किए व्रत कितने साथ है योगी से पूछोगे तो वो पूछेगा कि पतंजलि के कितने नियमों का पालन किया अष्टांगिक योग में क्या क्या साधा आसन प्राणायाम व्यायाम प्रत्याहार क्या किया बौद्ध से पूछोगे तो वो कहेगा कि भगवान ने चार आरी सत्य बताए उन चार आरी सत्यों को पाने के आठ मार्ग बताए उनमें से क्या मीरा ने साधा सम्यक दृष्टि सम्यक आहार सम्यक आजीविका सम्यक स्मृति सम्यक समाधि क्या साधा और मीरा का प्रेम करने वाला कोई भी उत्तर न दे सकेगा शायद तुम अपने को भीतर भीतर सोचोगे जब कुछ भी नहीं साधा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मीरा सिर्फ गीत गाना जानती है और भीतर कुछ भी ना हो मीरा की सारी कला उसकी असहाय अवस्था में है भक्त का सारा राज वहां कुंजी वहां है वही तो भक्ति और ज्ञान का भेद है ज्ञानी कह सकता है यह साधा यह साधा यह साधा ज्ञानी के पास हिसाब है ज्ञानी का इतिहास है भक्त का कोई इतिहास नहीं कोई हिसाब नहीं कोई खाता बही नहीं भक्ति कहता साधा क्या जन्म जन्म साधा कुछ भी न पाया पाया तब जब सब साधना गया भक्ति की कोई साधना नहीं होती असहाय अवस्था में अपने को पूरी तरह छोड़ देना करोगे भी क्या जब किए कुछ होता ही नहीं है तब इसके सिवाय उपाय भी क्या है कि समर्पण कर दो तुम अभी भी पूछते हो कि मैं क्या करूं तो दो में से कुछ एक बात तय कर लो या तो तय कर लो कि मैं असहाय हूं मैं बेबस हूं तब करने को कुछ नहीं बचता तब तुम्हारी असहाय अवस्था और तुम्हारी बेबसी ही काम कर देगी जो तुम नहीं कर पाए वह हो जाएगा और अगर तुम पूछते हो कि मैं क्या करूं यही तुम्हें करना है तो फिर मत कहो कि मैं असहाय हूं मत कहो कि बेबस फिर करो तप फिर करो योग फिर चेष्टा करो संकल्प करो फिर महावीर को पकड़ो फिर पतंजलि को पकड़ो फिर मीरा तुम्हारे काम की नहीं लेकिन इसके पहले कि तुम निर्णय करो मैं तुमसे कहना चाहता हूं दुनिया में जितने लोगों ने पाया है उनमें संकल्प के मार्ग से जाने वाले बहुत थोड़े लोगों ने पाया समर्पण के मार्ग से जाने वाले बहुत लोगों ने पाया है और सच तो यह है कि जब बिना किए मिल जाता हो तो करना ना समझिए फिर जिन्होंने करके भी पाया है उसमें भी बड़ी सोचने की बात है कि उनको करने से मिला है या करने से इतना ही मिला कि करने से कुछ नहीं होता बुद्ध के साथ ऐसा ही हुआ छह वर्ष तक अथक श्रम किया है सब किया जो किया जा सकता जो मानवीय है जो संभव है मनुष्य के लिए और छह वर्षों के बाद पाया कि कुछ मिलता नहीं पहले धन छोड़ दिया पद छोड़ दिया राज्य छोड़ दिया आकांक्षा छोड़ दी वासना छोड़ दी साधना पकड़ी छह वर्ष तक साधना की और रत्ती भर बचाव नहीं किया ऐसे नहीं की कि कुनकुनी कुनकुनी सौ डिग्री पर उबले जिन गुरुओं के पास गए उन गुरुओं ने ही कहा कि भाई जितना हम जानते थे बता दिया और तुमने कर भी लिया और नहीं हुआ रहा तो हम मजबूर हैं अब तुम कहीं और जाओ कोई गुरु ये नहीं कह सका कि तुमने किया ही नहीं जो मैंने कहा इसलिए नहीं हुआ छह वर्ष में बहुत गुरु लेकिन हर गुरु ने एक दिन हाथ जोड़ के बुद्ध को कहा कि आप कहीं और खोजें जो मेरे पास था वो मैंने बता दिया और तुमने वो पूरा कर भी लिया फिर तुम्हें नहीं हुआ तो मैं क्या करूं सारे गुरु छूट गए और एक दिन वैसी घड़ी भी आई वैसे बोध का परम क्षण भी आया बोधि वृक्ष के नीचे उस पूर्णिमा की रात बैठे बैठे बुद्ध को समझ आई कि मेरे किए कुछ नहीं होता है सब मैंने कर लिया करने को कुछ बचा नहीं अब करने को भी जाने दो और ये बोध भी एक छोटी सी घटना से आया स्नान करने उतरे हैं निरंजना नदी में इतने कमजोर हो गए क्योंकि बहुत दिन से उपवास कर रहे हैं किसी मुंह ने बता दिया कि बस एक चावल का दाना रोज लेना तो एक चावल का दाना रोज ले रहे हैं तीन महीने से शरीर बिल्कुल हड्डी हड्डी हो गया है उस समय की एक प्रतिमा किसी ने बनाई है तो सिर्फ हड्डियां दिखाई पड़ती हैं उस प्रतिमा में चमड़ी रह गई है हड्डियों पर चढ़ी मान सब खो गया है पेट पीठ से लग गया है बिल्कुल अस्थि पंजर रह गए निरंजना में स्नान करने उतरे हैं लेकिन इतने कमजोर हैं कि स्नान करने से थक गए और निरंजना के बाहर निकलने की सामर्थ्य नहीं मालूम होती शक्ति नहीं मालूम होती तो एक वृक्ष की जड़ को पकड़ के लटके रह गए उसी वृक्ष की जड़ को पकड़ के लटके हुए ये ख्याल आया इस छोटी सी दीनहीन नदी को पार नहीं कर पाता निरंजना कोई बहुत बड़ी नदी नहीं और गर्मी के दिन थे बिल्कुल सूखी साखी हालत होगी इस छीन देह नदी को पार नहीं कर पाता हूं इतना कमजोर हो गया और भव सागर पार करने चला ये कैसे होगा किसी तरह निकल पाए नदी से लेकिन वो क्रांति बन गई बात उस रात सब तपस्या छोड़ दी उस रात सब साधना छोड़ दी सब योग भी त्याग दिया भोग तो त्याग ही चुके थे उस रात योग भी त्याग दिया अब ये बात समझना कि भोगी भी अहंकार से जीता है और योगी भी अहंकार से जीता है भोगी का अहंकार बाहर की तरफ दौड़ता है योगी का अहंकार भीतर की तरफ दौड़ता है मगर अहंकार तो रहता ही और जब तक अहंकार है तब तक मिलन कैसा उस रात क्रांति हो गई भोगी का यह अहंकार तो जा ही चुका था धन पाना है पद पाना है ये तो जा चुका था आज वो वासना भी चली गई कि परमात्मा पाना है मोक्ष पाना है वो वासना भी चली गई कुछ पाना ही है ये बात ही व्यर्थ हो गई पाया कुछ जा नहीं सकता सब कर लिया कुछ मिलता नहीं उस दिन असहाय अवस्था पूर्ण होगी बुद्ध निढाल होकर पड़ रहे वृक्ष के तले उस रात गहरी नींद आई जैसी जन्मों में ना आई होगी क्योंकि जब कोई चिंता ही नहीं रही पाने को कुछ न रहा तो नींद की गहराई तुम समझ सकते हो उस रात सुसुप्ति घटी और सुबह जब आंख खुली रात का आखिरी तारा डूबता था उस तारे के डूबने के साथ ही बुद्ध का सारा अहंकार डूब गया क्योंकि आज पहली दफे चित्त शांत था प्रफुल्लित था प्रसाद पूर्ण था धीमे धीमे स्वर उठ रहे थे ऐसा कभी ना हुआ था भीतर रोशनी फैल रही थी ऐसा कभी ना हुआ था और ये बिना किए हुआ ये करने से नहीं हुआ उस क्षण सारा अहंकार विसर्जित हो गया बुद्ध ने पाया अब सवाल उठ सकता है कि बुद्ध ने श्रम करके पाया छह वर्ष मेहनत तो की थी ये पक्का है लेकिन क्या छह वर्ष की मेहनत से पाया ये बात पक्की नहीं पाया तो उस दिन जिस दिन सब श्रम छूट गया इस जगत में जो भी घटनाएं घटी अंततः चाहे ज्ञानी को घटती हो चाहे भक्त को महावीर के संबंध में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है कि उन्होंने कैसे पाया लेकिन मेरे देखे सिवाय इसके अतिरिक्त कोई उपाय पाने का नहीं महावीर ने बारह वर्ष श्रम किया होगा और अंतिम दिन वो श्रम से भी छूट गए होंगे क्योंकि श्रम तो अहंकार का ही है अंतिम दिन उस श्रम से भी छुटकारा हो गया होगा अंतिम दिन शांत रह गए होंगे कुछ करना ना बचा होगा कुछ करने वाला ना बचा होगा तभी घटना घटी होगी इसे मैं अपनी भीतरी साक्ष्य के आधार पर कहता हूं यद्यपि जैन शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख नहीं जब भी यह घटना घटती है तभी इसी भाव दशा में घटती है भक्त शुरू से ही इस पे चल पड़ता है ज्ञानी अंत में चल पाता है मीरा पहले से ही इस पे चल पड़ी बुद्ध छह वर्ष बाद चले तुम्हारी जैसी मर्जी हो मगर तय कर लो इस प्रश्न में तुम्हारे दो मन है एक कहता असहाय एक कहता क्या करूं तुम किसके साथ जाना चाहते हो तय कर लो और अपने को धोखा मत देना इसलिए मत तय कर लेना कि चलो असाही हो जाए अगर इस तरह मिलता हो तो ये तो बड़ी सुगम बात हुई चलो आज असहाय होके बैठ जाए ढूंढ लें कोई बोधि वृक्ष बिल्कुल निढाल हो जाए और कह दें साफ जोर से कि भाई करने से तो मिलता नहीं और फिर राह देखें रात भर कि अब मिला अब मिला तब मिला फिर सुबह आंख खोलें देखें आखिरी तारा डूब रहा और अभी तक नहीं मिला तो नहीं मिलेगा और सुबह उठ तुम अपने घर आ जाओगे फिर अपनी दुकान खोल लोगे ये सब बेकार है बुद्ध को भी मिला हो संदिग्ध हो गए पाने की आकांक्षा से ऐसा मत कर लेना नहीं तो वो झूठी बात होगी तुम बीच बीच में आंख खोल खोल के देखते रहोगे अभी तक आया कि नहीं आया तनाव तो बना ही रहेगा सुसुप्ति लगेगी ही नहीं विश्राम होगा ही नहीं अगर अभी करने की खुजलाहट बची हो तो थोड़ा कर ही लो मतलब थोड़ा पाप और बचा है इसलिए तो पाप को कर्म कहते थोड़ा कर्म और बचा है कर ही लो थोड़ा और करने का उपद्रव इसको झेल ही लो फिर तुम क्या करते हो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता हिंदू के ढंग से करते हो कि मुसलमान के ढंग से कि ईसाई के ढंग से इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कुछ करना है तो कर ही लो अभी इससे तुम तभी छूट पाओगे जब तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारे लिए अंतिम रूप से कह जाएगा कि करने से कुछ नहीं होता है कर करके ही तुम हार हार के ही विफल हो हो के ही जानोगे कि करने से कुछ नहीं होता है जिस दिन ये बात सौ प्रतिशत तुम्हारे प्राणों में समा जाएगी और तुम गिर जाओगे निढाल होकर जहां गिरोगे वहीं बोधि वृक्ष बन जाएगा और तुम अपने ढंग से गिरोगे और तुम्हारा वृक्ष अपना होगा बुद्ध का वृक्ष अपना है बुद्ध के गिरने का ढंग अपना है मगर गिरना तो तुम्हें पड़ेगा तुम जिस दिन गिरोगे उसी दिन परमात्मा उठता है परमात्मा प्रतीक्षा कर रहा है कि कब तुम अपने पर भरोसा छोड़ दो जिसे अपने पर भरोसा है उसे परमात्मा पर भरोसा नहीं जिसे परमात्मा पर भरोसा है वो क्या खाक फिक्र करेगा इस बात की कि मैं क्या करूं वो कहता तू कर तू करने वाला है और ध्यान रखना फिर तुम्हें तो सचेत कर दू कि ये बात आलस्य से नहीं उठनी चाहिए कि तू कर मैं कौन करने वाला हूं ये बात आलस्य से नहीं उठनी चाहिए ये बात अनुभव से उठनी चाहिए कि मेरे किए कुछ भी नहीं होता ये असहाय अवस्था से उठनी चाहिए आलस और असहाय अवस्था में फर्क है आलसी तो होशियार है वो तो दूसरे से काम लेना चाहता है ऐसा नहीं कि वो सोचता है कि मेरे किए कुछ ना होगा वो कहता जब तक दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलती हो तब तक काहे को अपने कष्ट उठाना तो दूसरे के कंधे पर रख के चलाने बंदूक मैं जो विद्यार्थी था विश्वविद्यालय में तो मेरे एक अध्यापक थे परम आलसी मेरे जो विभाग अध्यक्ष थे उनका मुझसे भी बहुत लगाव था और उन अध्यापक से भी बहुत लगाव था वो अध्यापक भी पहले उनके विद्यार्थी थे उन्होंने मुझसे कहा कि देखो ये बड़ा आलसी है और बड़ी तकलीफ में रहता है अच्छा ये होगा कि तुम दोनों ही साथ रहो मैंने कहा जैसी मर्जी वो आलसी तो पक्के थे दोनों हम साथ रहे उन्होंने पहले दिन मुझसे कहा कि सुबह दूध लेने कौन जाएगा मैंने कहा जो पहले उठे वो बोले तब ठीक आठ बज गए कोई उठे ना मैं भी उनको आंख खोल कर देख लू वो भी मुझे आंख खोल कर देख नौ बज गए वो जरा बेचैन होने लगे क्योंकि साढ़े दस बजे उन्हें कक्षा लेने जाना मैं तो विद्यार्थी था गया ना गया चलेगा उनकी तो नौकरी का सवाल था साढ़े नौ बजने लगे अब वो काफी तेजी से करबड़ बदलने लगे मैंने उनसे कहा कितनी करबड़ बदलो दूध लेने जाना ही पड़ेगा आज चाहे जिंदगी भर इसी बिस्तर पर रहना पड़े मैं उठने वाला नहीं तब वो घबरा के उठे तब भागे दूध लेने गए प्रधान को उन्होंने जाकर कहा कि ये साथ नहीं चलेगा ये तो मामला बहुत कठिन है इससे तुम अकेले ही बेहतर जब मर्जी हुई तब अपना दूध ले आता था या नहीं भी लाना हुआ तो नहीं लाता था मैंने अपने प्रधान को कहा कि अब हमें अलग ना करें मैं इन्हें रास्ते पर ले आऊंगा ये दो चार दिन में रास्ते पर आ जाएंगे इनको दूसरे के कंधे पर बंदूक रख चलाने की आदत हो गई आलस्य को तुम मत समझ लेना कि असहाय अवस्था है आलस्य तो चालाकी है धोखा है बेईमानी है तो ये मत सोचना कि चलो ठीक है करने से बचे झंझट मिटी अब यही कहने साफ कहे प्रभु आओ धाओ धाओ देखो इधर भक्त मारा जा रहा हालांकि तुम जानते कौन मर रहा है किस कहा की बातों में पड़े हो भीतर तुम यही कह रहे हो कि कौन मर रहा है और भीतर तुम ये भी जान रहे हो कौन आने वाला है विवेकानंद अमेरिका में एक गांव में बोले तो उन्होंने जीसस का प्रसिद्ध वचन उद्धृत किया फेथ कैन मूव माउंटेन्स श्रद्धा से पहाड़ भी हटाए जा सकते हैं एक बूढ़ी औरत बुढ़िया सामने ही बैठी थी बूढ़ों के सिवा तो कोई धर्म प्रवचन सुनने जाता भी नहीं वो सामने बैठी थी वो बड़ी प्रसन्न होने लगी क्योंकि उसके मकान के पीछे एक छोटी पहाड़ी थी और उस पहाड़ी की वजह से न हवा आ पाती थी न सूरज की रोशनी आ पाती थी वो बड़ी परेशान थी कि कैसे ये पहाड़ी उससे छुटकारा मिले उसने कहा तो बड़ा अच्छा है श्रद्धा से ही हट सकता है कह दिया परमात्मा से श्रद्धा भाव से हट जाएगा वो भागी घर गई उसने एक बार आखिरी बार खिड़की में से झांक के पहाड़ी को देखा कि एक बार तो और देख लो फिर तो हटी जाएगी फिर खिड़की बंद करके वो वहीं बैठी और उसने कहा हे प्रभु श्रद्धा पूर्वक कहती हूँ हटा ले इस पहाड़ को फिर दो तीन मिनट बैठी रही फिर उसने खिड़की खोल के देखी हटा के नहीं पहाड़ वहीं के वहीं था उसने कहा धत तेरी की मुझे पहले से पता था कहीं कोई पहाड़ वहां हटना है मगर अगर पहले से ही पता था कि कहीं पहाड़ हटना है तो श्रद्धा कहा श्रद्धा से पहाड़ हटते लेकिन श्रद्धा में संदेह होता ही नहीं अगर पहाड़ ना हटे तो यही समझना कि श्रद्धा नहीं और सच तो यह है अगर श्रद्धा पूरी हो तो तुम पहाड़ हटाना भी ना चाहोगे क्योंकि श्रद्धा की परीक्षा लेने का मतलब ही यह होता कि संदेह पहाड़ हटाना क्यों चाहोगे जहां परमात्मा ने बनाया ठीक ही जगह बनाया होगा तुम हटाना क्यों चाहोगे पहाड़ पहाड़ की तो बात अलग तुम एक तिनका ना हटाना चाहोगे जहां उसने बनाया जैसा उसने बनाया वैसा ही ठीक मैं उससे ज्यादा बुद्धिमान थोड़ी तो श्रद्धा पहाड़ हटा सकती है लेकिन श्रद्धा तो तिनका भी नहीं हटाना चाहेगी और अश्रद्धा से तो तिनका भी नहीं हट सकता और अश्रद्धा पहाड़ भी हटाना चाहती अश्रद्धा श्रद्धा का बाना पहन लेती तो ख्याल रखना आलस्य कहीं असहाय अवस्था का बाना न पहन ले नहीं तो धोखा हो जाएगा तो बहुत बहुत संभल के चलने की बात है करने पर भरोसा हो तो करो खूब करने के लिए उपाय पड़े प्राणायाम करो आसन करो सिर के बल खड़े हो माला जपो मंदिरों में जाओ उपवास व्रत हजार ढंग करने के ढंग ही ढंग करने के कर लो मगर अगर असहाय अवस्था समझ में आने लगी हो अब तो मत पूछो कि क्या करूं अब असहाय हो जाओ करने को कुछ बचा नहीं करने वाला नहीं बचा क्रांति घटती है उस दशा में अपूर्व है दशा वह आलस्य की नहीं अकर्मण्यता की भी नहीं अहंकार शून्यता की है और तब ऐसी घड़ी आ सकती है तू ऐसे जी के जमाना बैख प्यारे तमाम तेरी गरीबी तेरी बेबसी पर नाश करे उसी गरीबी उसी बेबसी से परमात्मा मिल सकता है तुम्हारा जीवन अपूर्व रूप से प्रसाद से भर सकता है तुम्हारे जीवन में उत्सव फूल खिल सकते हैं गीत झर सकते हैं तुम भी एक दिन पद घुंघरू बांध मीरा की भांति नाच सकते हो लेकिन ध्यान रहे परमात्मा ही नाचेगा तुम्हारे भीतर पैर तुम्हारे होंगे नाच परमात्मा का ही होगा दूसरा प्रश्न कोई प्रश्न नहीं यह बस एक प्रार्थना है मंसूर और सरमत के अफसाने पुराने हो गए ए रजनीश मेरे लिए किस्सा नया तजबीज कर क्या मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी दिनेश इस जगत में नया कुछ भी नहीं सूरज के तले नया कुछ भी नहीं जो तुम्हें नया जैसा मालूम पड़ता है उसका इतना ही अर्थ है कि इतिहास का तुम्हें पता नहीं जो तुम्हें नया जैसा मालूम पड़ता है नया इसलिए मालूम पड़ता है क्योंकि अतीत में वो जब बार बार हुआ है उसकी तुम्हें स्मृति नहीं है उसका तुम्हें बोध नहीं इस जगत में नया कुछ भी नहीं इससे तुम जल्दी से ये नतीजा मत निकाल लेना कि इस जगत में सब पुराना है क्योंकि जब नया ही कुछ नहीं तो पुराना कैसे हो सकता है नया ही हो तो ही पुराना हो सकता है जो आज नया है वो कल पुराना हो जाएगा लेकिन अगर नया कभी होता ही नहीं तो पुराना भी नहीं हो सकता नया और पुराना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो पहले तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं इस जगत में नया कुछ भी नहीं जो हो रहा है सदा होता रहा है जो हो रहा है हजार बार होता रहा है जो हो रहा है वो अनंत बार हो चुका है और अनंत बार होगा और दूसरी बात तुमसे कहना चाहता हूं तुम ये नतीजा मत लेना कि मैं कह रहा हूं कि जगत में सब पुराना पुराना तो हो ही कह सकता है कैसे सकता है जब नया ही नहीं होता तो पुराना कैसे होगा बूढ़ा होना हो तो जवान होना जरूरी है पहले जवानी के बिना बुढ़ापा नहीं होता जिस दिन जवानी नहीं होगी उस दिन बुढ़ापा नहीं होगा तुम एक कार खरीद लिए थे पिछले वर्ष वो पुरानी पड़ गई अब क्योंकि पिछले वर्ष नई थी नई न होती तो पुरानी नहीं पड़ सकती थी नया और पुराना सांस सांस जुड़े विपरीत नहीं शत्रु नहीं संगी साथी प्रणय सूत्र में बंधे सात चक्कर उनमें पड़े उनकी भावर पड़ गई नया और पुराना पति पत्नी अलग होते नहीं तलाक का उपाय भी नहीं तो ना तो इस जगत में कुछ नया है न इस जगत में कुछ पुराना फिर क्या है सब शाश्वत है सनातन है पुरातन नहीं सनातन ऐसा ही है जब तुम देखोगे तुम्हें नया लगेगा ऐसा ही समझो जब कोई जवान आदमी पहली बार प्रेम में पड़ता है तो वो सोचता आह ऐसा प्रेम दुनिया में कभी घटा ही नहीं सभी जवानों का ऐसा होता ऐसा प्रेम कभी हुआ ही नहीं सब प्रेम फीके पड़ गए सब प्रेम दो कौड़ी को हो गए करोड़ों अरबों लोग इस जमीन पर रहे और सभी को यह भ्रम हुआ है सभी जवान थे और सभी ने प्रेम किया है और सभी ने जब प्रेम किया तो ऐसा ही सोचा है कि जो मुझे हो रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे पास रोज लोग आते वो कहते हैं ये प्रेम ही और है ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था ऐसा किसी को हुआ ही नहीं लोग मुझसे कहते हैं कैसे अपना हृदय आपको हम बताएं ये बिल्कुल ऐसी नई बात हो रही अपूर्व हो रही और मैं समझता हूं उनकी तकलीफ उन्हें और दूसरों के प्रेमों का तो पता भी नहीं क्योंकि दूसरे के हृदय में प्रवेश का उपाय नहीं ऐसा ही समझो कि तुम्हारी बगिया में गुलाब की झाड़ी में आज फूल खिला ये खिला हुआ फूल अगर सोचे कि ऐसा कभी नहीं हुआ तो ठीक ही सोच रहा क्योंकि अतीत के फूलों से तो इसका कोई मिलना नहीं हुआ जब वे थे तब ये नहीं था अब वे चले गए हैं तब इसका आगमन हुआ है और भविष्य के फूलों से भी इसका कोई मिलना नहीं हुआ लेकिन झाड़ी से तो पूछो जिस पर न मालूम कितने फूल खिले और न मालूम कितने फूल गिरे उस झाड़ी से तो पूछो ये नया फूल जो अभी उठा है सुबह सुबह रात की ओस की बूंदों से ताजा सुबह की सूरज की किरणों में सिर उठाए पक्षियों का गीत सुनता अगर इसे ये वहम होता हो कि मेरी जैसी घटना कभी नहीं घटी ऐसा सौंदर्य कब घटा ऐसी लाली ऐसी ताजगी कब घटी कभी नहीं घटी तो ये भी गलत नहीं कह रहा है क्योंकि इससे पहले फूल घटे उनका कुछ पता कैसे हो और आगे भी फूल घटते रहेंगे उसका पता कैसे हो इसके पास जो बौड़िया हैं वे भी फूल बनेंगे इसका पता कैसे हो और नीचे जो कल के खिले फूलों की पखड़ियां गिर गई हैं वो भी कभी फूल थी इसका ऐसे पता कैसे हो ऐसी ही दशा तुम्हारी है दिनेश जीवन वर्तुलाकार है वर्षा आती है गर्मी आती है सर्दी आती है घूमता रहता चाक फिर वर्षा आती फिर वही होता फिर वही होता सुबह होती सूरज निकलता सांझ होती सूरज ढल जाता फिर सुबह होती दिन आता रात आती फिर दिन आता ऐसा ही होता रहता ये शाश्वत चक्र है इसलिए इसको हमने संसार कहा संसार शब्द का अर्थ होता है चाक जो घूम रहा है व्हील जो घूमता चला जाता लेकिन हमारी जिंदगी छोटी सत्तर साल की जिंदगी में हम कुछ जान पाते हैं थोड़ा बहुत हमारा बोध संकीर्ण पहले भी लोग हमसे हुए हैं उन्होंने भी ऐसा ही चाहा है उन्होंने भी ऐसा ही जिया है इसका हमें पता नहीं होता तुम जब पद की आकांक्षा में दौड़ते हो तो तुम सोचते हो तुम नए दौड़ने वाले हो तुम नए धावक तो फिर नेपोलियन और सिकंदर और तैमूर और चंगेज और नादिर तुम्हें याद नहीं जब तुम्हें पहली दफा समाधि घटित होगी तब भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो कभी किसी को नहीं हुआ फिर बुद्ध और महावीर और मीरा और चैतन्य और कबीर जब तुम्हारा परमात्मा से पहली दफा मिलन होगा तब भी ऐसा लगेगा कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ तुम्हें तो कभी नहीं हुआ था पहले ये सच तुम्हें नया हो रहा है लेकिन ये घटना जगत में नई नहीं है ये शाश्वत है मनुष्य का मन नए के लिए बड़ा आतुर है मनुष्य का मन उत्तेजना खोजता है नए में उत्तेजना होती मनुष्य का मन सदा नए की तलाश करता है तुमने आज जो भोजन किया कल भी करना पड़े तो मन राजी नहीं होता हालांकि आज जब किया था तुमने बड़ी प्रशंसा की थी मुल्ला नसुद्दीन की पत्नी मुझसे कह रही थी कि मेरे पति को क्या हो गया उनका दिमाग कुछ ठिकाने पे नहीं आपके पास आते हैं उन्हें कुछ समझाए मैंने पूछा मामला क्या है कारण क्या तेरा ऐसा सोचने का उसने कहा कि सोमवार को भिंडी बनाई थी बोले खूब अच्छी बड़ी प्रशंसा की तो मंगल को भी बनाई मंगल को कुछ नहीं बोले बुध को भी बनाई तो बड़े बेरुखे मन से की भोजन किया बृहस्पति को भी बनाई तो बड़े भन्नाए हुए थे शुक्र को भी बनाई तो थाली उठा के फेंक दी दिमाग इनका ठीक है कि नहीं इन्हें कहा था कि खूब सुंदर खूब स्वादिष्ट अब भिंडी कितने दिन खा सकते हो मन नए की तलाश करता है मन कहता कुछ नया तो चाहिए इसलिए तो पति को पत्नी में सौंदर्य नहीं दिखाई पड़ता पत्नी को पति में कुछ रस नहीं दिखाई पड़ता मन कहता है कुछ नया चाहिए पुराना मकान है तो नया चाहिए पुरानी कार है तो नई चाहिए पुराने कपड़े हैं तो नए कपड़े चाहिए मन कहता है कुछ नया चाहिए नए की तलाश में मन तुम्हें भटकाता है नए की तलाश में तुम संसार में यात्रा करते रहते हो जो इस बात को समझ लेता है कि यहां नया कुछ भी नहीं और पुराना भी कुछ नहीं उसकी संसार की यात्रा समाप्त हो जाती इस सत्य को गहराई से समझना जरूरी है तुम पूछते हो मंसूर और सरमत के अफसाने पुराने हो गए नहीं हो सकते पुराने क्योंकि नए ही कभी नहीं थे पुराने कैसे हो जाएंगे मंसूर कुछ पहला तो आदमी नहीं था जिसने अनक हक की घोषणा की फिर उपनिषद के ऋषियों का क्या हुआ जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं मंसूर ने वही कहा था अनल हक मैं सत्य हूं मैं ब्रह्म हूं मैं परमात्मा हूं मंसूर को ही थोड़ी पहली दफा सूली लगी फिर जीसस का क्या हुआ फिर सुकरात का क्या हुआ सरमत का ही थोड़ी सिर कटा और भी बहुत सिर कटे सरमद और मंसूर के अफसाने कभी नए ही नहीं थे तो पुराने कैसे हो सकते अफसाना तो एक ही है पात्र बदल जाते खेल तो वही है कभी बुद्ध खेलते उस खेल को कभी महावीर खेलते कभी पतंजलि कभी मोहम्मद कभी जरथुस्त्र खेल वही है हालांकि भाषा भी बदल जाती पात्र के बदलने के साथ साथ रंग ढंग भी बदल जाता है लेकिन रंग ढंग तो ऊपर ऊपर की बातें भीतर राज की बात वही एक ही है जीसस सुली पर लटके कि मंसूर सूली पे लटके कि सरमत का सर काटा जाए कि सुकरात को जहर पिलाया जाए कहानी तो वही है पिछले वर्ष जो फूल आए थे वे फिर फिर आएंगे हालांकि हर बार देह अलग होगी पर आत्मा वही होगी नए की आकांक्षा विषाद में ले जाएगी क्योंकि नया मिला नहीं कि पुराना होना शुरू हो जाता है बायरन अंग्रेजी का बड़ा कवि हुआ कहते हैं उसने सैकड़ों स्त्रियों को प्रेम किया वो जल्दी चुक जाता था दो चार दिन में ही एक स्त्री से चुक जाता था सुंदर था प्रतिष्ठित था महाकवि था व्यक्तित्व में उसके चुंबक था तो स्त्रियां खिंच जाती थी जानते हुए कि दो चार दिन बाद दूध में से निकाल के फेंकी गई मक्खियों की हालत हो जाएगी मगर दो चार दिन भी बायरन के साथ रहने का सौभाग्य कोई छोड़ना नहीं चाहता था कहते हैं लोग इतने डर गए थे बायरन से कि बायरन जिस रेस्तरा में जाता पति अपनी पत्नियों के हाथ पकड़ के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं सभा सोसाइटियों में बायरन आता तो लोग अपनी पत्नियों को न लाते थी कुछ बात उस आदमी में कुछ गुरुत्वाकर्षण था मगर एक स्त्री उससे झुकी नहीं जितनी नहीं झुकी उतना बायरन ने उससे झुका झुकाना चाह लेकिन उस स्त्री ने एक शर्त रखी कि जब तक विवाह ना हो जाता तब तक मेरा हाथ भी न छू सकोगे विवाह पहले फिर बात स्त्री सुंदर थी और ऐसी चुनौती कभी किसी ने बायरन को दी भी नहीं थी स्त्रियां पागल थी उसके लिए उसका इशारा काफी था और ये स्त्री जिद पकड़े थी और स्त्री सुंदर थी सुंदर चाहे बहुत न भी रही हो लेकिन उसकी चुनौती ने उसे और सुंदर बना दिया क्योंकि जो हमें पाने में जितना दुर्गम हो उतना ही आकर्षित हो जाते हैं एवरेस्ट पे चढ़ने का कोई खास मजा नहीं पूना की पहाड़ी पे चढ़ो तो भी चलेगा मगर एवरेस्ट दुर्गम है कठिन है कठिन है यही चुनौती एडमंड हिलेरी जब पहली दफा एवरेस्ट पे चढ़ा और लौट के आया तो उससे पूछा गया कि आखिर क्या बात थी किस लिए तुम एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते थे तो उसने कहा किस लिए क्योंकि एवरेस्ट अनचढ़ा था ये काफी चुनौती थी ये आदमी के अहंकार को बड़ी चोट थी एवरेस्ट पर चढ़ना ही था चढ़ना ही पड़ता हालांकि वहां पाने को कुछ भी नहीं था वो महिला एवरेस्ट बन गई बारन के लिए बारन दीवाना हो गया महिलाएं उसके लिए दीवानी थी बारन इस महिला के लिए दीवाना हो गया और अंततः उसे झुक जाना पड़ा विवाह के लिए राजी होना पड़ा जिस दिन चर्च से विवाह करके वे उतरते थे सीढ़ियों पर अभी उनके सम्मान में स्वागत में जलाई गई मोमबत्तियां बुझी भी न थी अभी मेहमान जा ही रहे थे अभी चर्च की घंटियां बज रही थी उस स्त्री का हाथ पकड़ के सीढ़ियां उतर रहा है और तभी एक क्षण छिटक के खड़ा हो गया एक स्त्री को उसने सामने से रास्ते पर गुजरते देखा बायरन ऐसे आदमी ईमानदार था उसने अपनी पत्नी को कहा सुनो तुम्हें दुख तो होगा लेकिन सच बात मुझे कहनी चाहिए कल तक मैं दीवाना था लेकिन जैसे ही तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में आ गया और हम विवाहित हो गए मेरा सारा रस चला गया तुम पुरानी पड़ गई अभी कोई संबंध भी नहीं बना है लेकिन तुम पुरानी पड़ गई और वो जो स्त्री सामने से गई है गुजरती हुई एक क्षण को मैं उसके प्रति मंत्र मुग्ध हो गया मैं तुम्हें भूल ही गया कि तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में मुझे तुम्हारी याद भी नहीं रही ये मैं तुमसे कह देना चाहता हूं मेरा रस खत्म हो गया चूंकि तुम मेरे हाथ में हो मेरा रस समाप्त हो गया तुम शायद इतने ईमानदार ना भी हो लेकिन तुमने ख्याल किया है जिस चीज को पाने के लिए तुम परेशान थे एक सुंदर कार खरीदना चाहते थे वर्षों धन कमाया मेहनत की फिर जिस दिन आके पोर्च में गाड़ी खड़ी हो गई तुमने उसके चारों तरफ चक्कर लगा के देखा और छाती बैठ गई कि बस हो गया अब अब क्या करने को शायद एक आध दिन उमंग रही राह पर तो निकले कार लेके लेकिन कार उसी दिन से पुरानी पड़नी शुरू हो गई जिस दिन से तुम पोर्च में ले आए अब रोज पुरानी ही होगी और रोज रोज तुम्हारे और उसके बीच का जो रस था वो कम होता चला जाए इसी कार के लिए तुम कई दिन सोए नहीं रात सपने देखे दिन सोचा बिचारा और यही अब तुम्हारे पोर्च में आके खड़ी और इसकी याद भी नहीं आती यही तुम्हारे पूरे जीवन की कथा है मन नए की मांग करता है लेकिन नया तो मिलते ही पुराना हो जाता है और फिर मन विशास से भरता है जो नए को मांगेगा वो बार बार दुख में पड़ेगा क्योंकि नया पुराना होता है शाश्वत को खोजो जो नया भी नहीं है पुराना कभी होता नहीं जो सदा एक सा है एक रस उस एक रस्ता का नाम ही परमात्मा है परमात्मा नया है ऐसा कहोगे कि परमात्मा पुराना है ऐसा कहोगे दोनों ही बातें गलत होंगी परमात्मा दोनों के अतीत है तुम पूछते मंसूर और सरमत के अफसाने पुराने हो गए नहीं हुए क्योंकि वे नए ही कभी न थे वे शाश्वत कहानियां हैं वे पुराण हैं यही फर्क है कहानियों में और पुराणों में जो कहानी अखबार में छपती है साप्ताहिक अखबार में छपती है वो छपी नहीं कि पुरानी हो जाती राम कथा पुरानी नहीं होती कृष्ण की लीला पुरानी नहीं होती क्यों शाश्वत की भनक है कितनी बार रामलीला देखी तुम जरा सोचो इतनी बार तुम एक फिल्म देख सकते हो पागल हो जाओगे कितनी ही अच्छी फिल्म हो दोबारा देखोगे तो कुछ रस न मालूम पड़ेगा लेकिन रामलीला कितनी बार देखी हर वर्ष होती कुछ बात है कुछ अनूठी बात है कुछ विस्मय विमुग्ध कर देने वाली बात है तुम्हें पूरी कथा मालूम है तुम्हें सब डायलॉग मालूम है कब रामचंद्र जी क्या कहने वाले कब सीता जी चुराई जाएंगी सब तुम्हें मालूम नया तो कभी कभी होता है नया कभी कभी हो जाता रामलीला में ऐसा एक गांव में हो गया था जो आदमी रावण बना था और जो स्त्री सीता बनी थी वो सच में ही उस स्त्री के प्रेम में पड़ा था तो बड़ी गड़बड़ होगी जब धनुष बाण तोड़ने का समय आया और जोर से खबर आई कि है रावण लंका में आग लगी उसने कहा लगी रहने दो आज तो सीता को लेके ही जाऊंगा अब बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई सब चौंक के बैठ गए होंगे लोग जो सो रहे होंगे वो भी जग गए कि ऐसा तो रामलीला में कभी हुआ नहीं ये तो कुछ नई बात हो रही रावण चला जाता लंका में आग लगी बेचारा भागता लंका बचाने इसी बीच रामचंद्र जी सीता को ले जाते फिर सारी कहानी शुरू हो जाती ये तो कहानी तोड़ दे रहा ये कह रहा सीता को लेके जाएंगे और वो सबसे मजबूत आदमी था गांव का तो ही तो रावण बनाया था उस और रामचंद्र जी बेचारे जरा से छोकरे थे वो एक रपट लगा देगा उनको तो वो दोबारा कभी मंच पे ना आएंगे फिर लक्ष्मण जी भी घबरा गए जनक महाराज भी घबराए क्योंकि आदमी खतरनाक है और सीता भी घबराई कि अगर ये ले जाना चाहे तो ले ही जाएगा ये बात ही खत्म हो गई रामलीला तो खत्म ही हो गई दूसरी काम शुरू हो गया वहां और उसने फिर आओ देखी ना ताओ क्योंकि उसको फुर्सत कहा उसने तो उठा और धनुष रखा था वो तोड़ के उसे चार टुकड़े करके जनता में फेंक दिया बात भी हो गई पूरी धनुष्मान ही तोड़ना था उसने तोड़ दिया वो तो सीता को ले जाने की तैयारी करने लगा अब रामचंद्र जी मुंह आए बैठे तो जनक बूढ़ा आदमी था और कई बार जनक का काम कर चुका था उसे थोड़ी सदबुद्धि आई उसने कहा कुछ करना पड़ेगा नहीं तो ये तो मामले खत्म हो गए और दुनिया हंसेगी और फिर ये रामलीला भी चलना है दस बारह दिन वो कैसे चलेगी तो जल्दी से चिल्लाया कि भ्रत्यो ये तो मेरे बच्चों के खेलने का धनुष्वान उठा लाए शंकर जी का धनुष्वान लाओ पर्दा गिरवाया किसी तरह समझा बुझा के राम रावण को बाहर निकाला दूसरे आदमी को जल्दी से रंग पोत के रावण बनाया क्योंकि ये आदमी फिर गड़बड़ कर दे तब रामलीला चली कभी कभी ऐसा होता है लेकिन अक्सर तो रामलीला वही की वही है कभी कभी ऐसा हो जाता है ऐसा एक और गांव में हो गया जब रावण को हरा के राम लौटने लगे और पुष्पक विमान में बैठने को ही जा रहे हैं कि रस्सी किसी ने जल्दी खींच दी रस्सी में बंधा पुष्पक विमान वो बैठ ही ना पाए और किसी ने ऊपर से रस्सी खींच दी वो पुष्पक विमान उठ गया तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि बड़े भैया आपके पास टाइम टेबल हो तो देखे कि फिर हवाई जहाज कब आएगा तो लड़के थे लड़के ने सोचा अभी तो गए तब टाइम टेबल देखे तो लोग बड़े चौंके कि टाइम टेबल और हवाई जहाज फिर कब आएगा कभी कभी ऐसा होता है ऐसा एक बार और हुआ हनुमान जी पहाड़ लेकर आए वो भी रस्सी पे चले आ रहे हैं रस्सी उलझ गई अब वो लटके हैं उतर भी नहीं सकते वो जो आदमी रस्सी रस्सी चलाने के चार्ज में था उसको कुछ नहीं सूझा कब करना क्या और जनता भी हंसने लगी और लोग भी हैरान और रामचंद्र जी देख रहे और लक्ष्मण जी मरे जा रहे और हनुमान जी लटके न वो उतरे न जड़ी बूटी आए और ये सब सामने ही हो रहा रस्सी वाले को कुछ नहीं सूझा उसने तो रस्सी काट दी तुम सोच सकते जो होना था हुआ हनुमान जी धड़ाम से गिरे पहाड़ भी उनके ऊपर गिरा रामचंद्र जी जो सीखे बैठे थे उन्होंने पूछा कि हनुमान जी जड़ी बूटी ले आए हनुमान जी ने कहा ऐसी कि तैसी जड़ी बूटी पहले ये बताओ रस्सी किसने काटी मगर ये कभी कभी होता है अन्यथा तो रामलीला वही है फिर भी लोग प्रतिवर्ष देखते रामलीला कोई अफसाना नहीं है पुराण है उसमें कुछ शाश्वत है कथा का ऊपरी जो आवरण है वही सब कुछ नहीं भीतर आत्मा भी है वो कोई फिल्म नहीं है फिल्म में कोई आत्मा नहीं होती सिर्फ देह होती एक बार देख ली बात खत्म हो गई रामलीला में तो उतना अर्थ है जितना तुम खोजो कृष्ण की लीला में तो उतना अर्थ है जितनी तुम्हारी समझ हो जितनी तुम्हारी समझ बढ़ती जाएगी नए नए अर्थ प्रकट होंगे नए नए फूल नई नई सुगंध खिलेगी पुराण का अर्थ होता है ऐसी कथा जो शब्दों में सीमित नहीं शब्दों में है लेकिन वस्तुता शब्दों के पार है तुम कहते मंसूर और सरमत के अफसाने पुराने हो गए नहीं हुए कभी नहीं होंगे नए ही नहीं थे पुराने कैसे होंगे शाश्वत थे ए रजनीश मेरे लिए किस्सा नया तजवीज कर ये नए की आकांक्षा नरक में भटकाती नए की आकांक्षा दुख में ले जाती नए की आकांक्षा का नाम ही संसार है नया मिल भी जाएगा तो कितनी देर नया रहेगा यह तो बताओ मिला कि पुराना होना शुरू हो गया हाथ में आया कि पुराना पड़ने लगा आधी घड़ी बीती तो आधी घड़ी पुराना हो गए और समय तो बीता जा रहा है तो नए के साथ कैसे सुख मिल सकता है जब तक नया मिलता नहीं तब तक दुख रहता है कि अभी मिला नहीं और जब मिलता है तो पुराना होने लगता है फिर दुख मिलता है न मिले तो दुख है मिल जाए तो दुख है नए के साथ दुख का जोड़ है शाश्वत को खोजो शाश्वत में न दुख है न सुख शाश्वत में आनंद है और ये नए का जो कुतूहल बना रहता है इसको समझो इससे होगा क्या ऐसे ही है जैसे कोई खुजली उठाती खुजलाना अच्छा लगता मगर उससे कुछ लाभ नहीं होता नुकसान ही होता है लहूलुहान हो जाओगे फिर पछताओगे नए की खोज खुजलाहट जैसी है ये तुम्हें दिखाई पड़ने लगे तो तुम न नए को खोजोगे और न फिर कभी कुछ पुराना पड़ेगा तब तुमने जीवन में एक नया आयाम खोज लिया नए आयाम से मेरा अर्थ तुम समय के बाहर हो गए कालातीत से संबंध जोड़ा वही पुराण है ये सब पुराण पुरुष है मंसूर सरमत जीसस सुकरात ये सब पुराण पुरुष है इन्होंने जो शाश्वत है उसको ही समय की धारा में प्रकट किया है क्या है इनकी सारी कथाओं का सार इतना ही है कि सत्य जब भी आएगा लोग इतने झूठ हो गए कि सत्य को सूली दी जाएगी सत्य जब भी प्रकट होगा लोग नाराज होंगे लोग दुश्मन हो जाएंगे क्योंकि लोग झूठ में जिए झूठ में पगे झूठ लोगों की जिंदगी है फ्रेडरिक निश्चय ने कहा है आदमी बिना झूठ के नहीं रह सकता फ्रेडरिक निश्चय ने यह भी कहा है कि कोई आदमी के झूठ ना छीने आदमी झूठ के बिना जी ही नहीं सकता उसे प्यारे झूठ दो और वो मस्त रहेगा और तुम्हारी पूजा करेगा और तुमने उसके झूठ तोड़े और तुमने उसे कड़वा शब्द दिया वो तुम्हारी गर्दन काटेगा जीसस को ऐसे ही थोड़ी काटा सरमत को ऐसे ही थोड़ी मारा इन्होंने सत्य कहा जैसा था वैसा कह दिया जैसा था वैसा कहोगे तो हजारों लोग नाराज हो जाएंगे क्योंकि उनके झूठ दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे इस दुनिया में कोई अपने झूठ को नहीं देखना चाहता कल एक मित्र ने पूछा था कि दृढ़ निश्चय करके आया हूं सन्यास का मगर यहां आके आपके सत्संग में बैठ के तो सन्यास का भाव ही चला गया तो जब मैंने कल ये कहा कि अपने को धोखा मत दो मन बहुत बेईमान है तो उन्होंने आज लिख के भेजा है कि सुनते वक्त तो ऐसा लगा कि आप ठीक कह रहे हैं ये मन बेईमान है ये मन शैतान है इसकी सुनना ठीक नहीं फिर जब यहां से बाहर चला गया और धीरे धीरे आपका प्रभाव कम हो गया तो मुझे लगा कि कहीं ये आदमी धोखेबाज तो नहीं फ्रॉड जालसाज तो नहीं कैसी बातों में फंसा के मुझे संन्यास दिलवाते अब वो पूछते हैं कि भगवान आप कहिए मैं क्या करूं अब मैं तुमसे जो भी कहूंगा वो तुम्हारा मन फिर उसमें कुछ सोचेगा असल में तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे कह दू क्या रखा सन्यास में तुम तो सन्यासी हो ही तुम तो परम सन्यासी हो तुम तो भीतर से सन्यासी हो ही गए बाहर के कपड़ों में क्या रखा फिर तुम प्रसन्न हो जाओगे तुम कहोगे हाँ ये आदमी सच्चा भगवान मिल गया फिर तुम तो मस्त अपने घर जाओगे क्योंकि तुम्हारे मन की कह दी गई तुम्हारे मन की कह दी जाए तो तुम राजी हो जाते लोग मेरे पास पूछने आते और वो राह देखते हैं कि वो उनकी मन की मैं कहूं अगर उनकी मन की कहूं तो बिल्कुल ठीक है एकदम मेरे चरणों में गिर जाते हैं कि आपने बिल्कुल सत्य कह दिया और मैं जानता हूं कि उनका मन का पड़ रहा है इसलिए सत्य है अगर उनके मन के अनुकूल ना पड़े तो वो बड़े उदास हो जाते हैं बड़े नाराज हो जाते हैं तुम अपने झूठ के लिए सहारे खोज रहे हो तुम झूठ से छूटना नहीं चाहते तुम झूठ सत्य है ऐसा कोई तुम्हें समझाए कोई तुम्हें बताए तुम उससे राजी होते हो इसलिए तो तुम पंडित पुरोहित के पास जाते हो क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं सत्य से तुम्हारा जो झूठ है वो उसी को सत्य प्रमाणित करता है सरमत को तुम क्षमा नहीं कर पाते मंसूर को तुम कैसे क्षमा करोगे वो तुम्हारे झूठों को कोई सहारा नहीं देते वो बड़ी रोशनी प्रकट करते कि तुम्हारे सबको अपने झूठ दिखाई पड़ जाए वो तुम्हारे चेहरे को झटक लेते ताकि तुम्हारा मुखोटा उखड़ जाए तुम्हें दिखाई पड़ जाए कि तुम्हारा चेहरा नहीं लेकिन तुम्हारे मुखोटे को कोई बाजार में झपट ले बीच बाजार में लोगों के सामने झपट ले तुम्हारे झूठ को झूठ कह दे और सिद्ध कर दे कि झूठ है तुम कैसे उसे क्षमा करोगे ये शाश्वत कथा है सत्य क्षमा नहीं किया जा सकता सत्य को सूली दी जाती अलग अलग ढंग से लेकिन सत्य को सूली दी जाती लोग झूठ हैं भीड़ उनकी है वे नाराज होते ये अफसाना नहीं है ये कहानी नहीं है ये जीवन की प्रक्रिया है और जब भी सत्य आएगा लोग नाराज होंगे अनेक अनेक तरहों से नाराजगियां जाहिर करेंगे मूड ही झूठ से भरे लेकिन ये बात स्वीकार नहीं कर सकते स्वीकार ही कर लें तो झूठ के बाहर आने लगे स्वीकार कर लें तो मूढ़ता के बाहर आने लगे ये स्वीकार नहीं कर सकते और जो भी जगाएगा उस पर नाराज हो जाते ऐसा पहले भी हुआ आज भी हो रहा है कल भी होता रहेगा ऐसा सौभाग्य का दिन कभी ना आएगा लगता है जब सत्य को सूली ना लगे जब सत्य का तिरस्कार ना हो जब सत्य को जहर ना पिलाया जाए ऐसा आशा नहीं लगती कि कभी ऐसा होगा इसलिए नहीं होगा कि ये जो भीड़ है ये सत्य के साथ जी ही नहीं सकती तुम अपने झूठ पहचानना शुरू करो कितने तरह के झूठ तुमने बोल रखे कितने तरह के झूठ तुमने संभाल रखे उन झूठों में तुमने सुरक्षा बना ली तुम कहते हो ये मेरी पत्नी ये मेरा पति है तुम बिल्कुल अकेले हो न कोई पत्नी है न कोई पति है लेकिन अकेलेपन से डरते हो तो तुमने संबंध बना लिए फिर संबंधों को ठीक से बिठा लेने के लिए बड़े रीति रिवाज बना लिए साथ फेरे लगाते हो मंत्र पढ़े जाते पंडित पुरोहित शास्त्रों से वचन उद्धृत करते बैन बाजे बजाए जाते हैं भीड़ भाड़ इकट्ठी की जाती ये सब सिर्फ एक बात को तुम्हारे मन पर ठीक से खींच देने के लिए कि संबंध बिल्कुल पक्का हो गए सिर्फ इस बात के लिए कि संबंध बिल्कुल पक्का हो गया अब तुम अकेले नहीं हो कोई तुम्हारा संगी साथी जीवन मरण का साथी कौन किसके जीवन मरण का साथी है न तो जीवन का कोई साथी है न मरण का कोई साथी है धोखेधड़ी में साथ है पत्नी अकेली है वो भी चाहती अकेले होने में डर लगता अकेले में घबराहट होती कोई साथ चाहिए तो हाथ पकड़े तुम भी अकेले हो तुम लाख कहो कि तुम मर्द बच्चे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता अकेले हो तुम भी डर रहे हो पत्नी मौजूद रहती तो तुम भी अकड़े रहते हो किसी पति से झगड़ा मत लेना अगर उसकी पत्नी मौजूद हो क्योंकि पत्नी की मौजूदगी में एकदम बहादुर हो जाता है पत्नी को दिखाना पड़ता ना उसको कि बहादुर अगर पत्नी ना हो तो वो अपनी पूछ दबा के निकल जाए लेकिन पत्नी के सामने अगर तुमने छेड़ दिया तो वो बिल्कुल पागल हो जाएगा सिद्ध करना है पत्नी के सामने क्योंकि पत्नी यही तो भरोसा माने बैठी कि एक बलशाली व्यक्ति का सहारा मिल गया एक बड़े वृक्ष के साथ मेरी लता का जोड़ हो गया है पत्नी के सामने दब्बू से दब्बू पति भी एकदम बहादुर हो जाता है पत्नी धोखा खा रही है पति धोखा खा रहा है दोनों धोखा खाना चाहते हैं इसलिए खा रहे हैं दोनों अकेले और जब दो अकेलेपन मिलते हैं तो अकेलापन दोहरा हो जाता है कम नहीं होता ख्याल रखना कैसे कम हो जाएगा कुछ गणित तो सोचो दो बीमार आदमी एक कमरे में तो बीमारियां दुगनी हो जाती कम नहीं होती दो उदास आदमी एक साथ जोड़ दो तो उदासी दोहरी हो जाती दो चिंतातुर आदमी जोड़ दो दोहरी चिंता हो जाती दो पागलों को साथ बिठा दो पागलपन हजार गुना हो जाता दुगनी नहीं गुण फल होता है लेकिन हम अपने को मनाए रखते हैं सब ठीक है कुछ भी ठीक नहीं तुम किसी से पूछते हो कहो भाई सब कैसा चला वो कह रहा सब ठीक है जरा पूछो भी फिर से कि सच कह रहा है सब ठीक है लेकिन हम ऐसा कहते नहीं क्योंकि वो अशिष्ट होगा क्यों बेचारे का राग छेड़ना क्यों किसी का दुख क्यों किसी की रग छेड़नी क्यों किसी का घाव छेड़ना तुम भी कहते हो हम भी मजे में तुम भी मजे में कोई भी मजे में नहीं चेहरे बना के घूम रहे इन्हीं चेहरों को झपट लेता है कोई मंसूर तो कह देता है तुम झूठ हो जरा भी ठीक नहीं हो और तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल नरक है सुख तुमने जाना नहीं सिर्फ वहम में हो दुख ही दुख जाना है कोई मंसूर एकदम खोल कर रख देता तुम्हारे हृदय के नासूर कहता जरा यहां तो देखो ये हो तुम तुम नाराज ना हो तो क्या करो तुम कैसे बर्दाश्त करो अपनी ये पीड़ा तुम किसी तरह बुलाए बैठे थे अपने घाव को छिपा लिया था मलम पट्टी कर ली थी ऊपर से फूल का गजरा रख दिया था सब ठीक मालूम हो रहा था फूल की गंध आ रही थी ये आदमी आया इसने फूल का गजरा हटा दिया मलम पत्ती उखेड़ दी भीतर की मवाद बहने लगी दुर्गंध आने लगी तुम नाराज हो ये भी स्वाभाविक है धन्य भागी हैं वे जो उनके मुखौटे छीने जाने पर नाराज नहीं होते बल्कि अनुग्रह मानते हैं बुद्धिमान हैं वे जो नाराज नहीं होते अनुग्रह मानते क्योंकि एक दफा मुखोटा छिन जाए तो असली चेहरे की खोज शुरू हो सकती है और एक बार झूठ से नाता टूट जाए तो सत्य से नाता जुड़ सकता है सत्य से नाता जुड़ ही नहीं सकता जब तक झूठ से नाता जुड़ा हुआ है सांत्वनाओं से नहीं होगा कुछ सत्य चाहिए झूठी आशाओं से नहीं होगा कुछ सत्य का सीधा अनुभव चाहिए ऐसा पहले हुआ ऐसा आगे भी होता रहेगा नया इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं होता पुराना भी इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है सब शाश्वत है वही खेल चल रहा है ज्ञानी अज्ञानी के बीच वही संघर्ष कुछ बदलाहट नहीं मालूम पड़ती पुराने से पुराने शास्त्र जो कहते हैं वैसा का वैसा आज कोई फर्क नहीं पड़ा है छह हजार वर्ष पुरानी मनुष्य के खाल पर लिखी गई एक सूचना चीन में मिली जो लिखा है वो ऐसा है जो आज भी सच लिखा है कि बेटे बाप का आदर नहीं करते धर्म विनष्ट हो गया है नीति नष्ट हो गई महाअंधकार का युग आ गया छह हजार साल पहले और यही तो तुम अब भी कहते हो यही तुम सदा कहते रहे हो कुछ फर्क नहीं हुआ है जो पहले था वैसा ही आज है जैसा आज है वैसे ही तो आगे भी होगा लेकिन एक शाश्वत खेल चल रहा है ज्ञानी आते चमत्कार है इतने महा अज्ञान में भी कभी कभी कोई ज्ञानी पैदा हो जाता है इतने मरुस्थल में कभी कभी कोई मरुद्धान कहीं कोई जल का झरना प्रकट हो जाता है थोड़ी हरियाली हो जाती थोड़े फूल खिलते हैं वृक्ष होते हैं थोड़ी शीतल बयार बहती थोड़ा वसंत आता है लेकिन पूरा मरुस्थल नाराज हो जाता है क्योंकि जब तक मरुद्धान नहीं होता मरुस्थल को यह पता नहीं होता कि मैं मरुस्थल हूं मरुद्धान को देख के तुलना पैदा होती जीसस तुम्हारे पास में खड़े हो जाते हैं तब तुम्हें पता चलता है तुम महाअंधकार अंधकार वो जो ज्योतिर्मय पुरुष पास में खड़ा है उसकी ज्योति तुम्हारे अंधकार को दिखाती जो बुद्धिहीन है वो उस ज्योति को बुझाने में लग जाते हैं ताकि उनको अपना अंधकार ना दिखाई पड़े जो बुद्धिमान है वो अपने अंधकार को मिटाने में लग जाते वो इस ज्योति से ज्योति लेने लगते अंधकार मिट जाए तो फिर दिखाई नहीं पड़ेगा दोनों का लक्ष्य एक ही है समझना वो जो आदमी जीसस का दिया बुझाना चाहता है उसका भी लक्ष्य यही है कि मुझे मेरा अंधकार ना दिखाई पड़े मगर वो गलत काम कर रहा है जीसस का दिया बुझ जाएगा इससे उसका अंधकार नहीं मिटेगा बल्कि अंधकार और सघन हो जाएगा शायद जीसस की कुछ किरणें उसके अंधकार को कम भी करती थी शायद जीसस की लपट से वो लपट उधार भी ले सकता था अपने दिए को पास ले जाता जीसस का सत्संग करता साथ संगत में बैठता तो शायद घटना घट जाती अंधकार सच में ही मिट जाता मगर आकांक्षा उसकी समझो आकांक्षा उसकी कि वो नहीं चाहता कि मैं अंधकार पहुं मगर काम गलत कर रहा है जो आदमी जीसस को प्रेम करने लगता है वो भी यही चाहता है कि मैं अंधकार पूर्ण ना रहूं लेकिन वो ठीक मार्ग पर चल रहा है वो जीसस को नहीं मिटाता वो अपने को मिटाता है ताकि जीसस के लिए जगह खाली हो जाए देखना दोनों की आकांक्षा एक जैसी तुमने प्रसिद्ध कहानी सुनी है ना कि अकबर एक दिन दरबार में आया और उसने एक लकीर खींच दी दीवाल पर और अपने दरबारियों से कहा इस लकीर को बिना छुए छोटा कर दो अब बिना छुए कैसे लकीर छोटी हो वे दरबारी चिंतित हुए उन्होंने कहा तो बेबूझ पहली छूना तो पड़ेगा ही छोटा करेंगे तो छूना पड़ेगा मिटानी पड़ेगी लकीर छोटी कम करनी पड़ेगी काटनी पड़ेगी तो छोटी होगी फिर बीरबल उठा और उसने एक बड़ी लकीर उसके नीचे खींच दी उसने उस लकीर को छुआ नहीं सिर्फ उसके नीचे एक बड़ी लकीर खींच दी वो लकीर छोटी हो गई तुम जानते हो यही नाराजगी है मंसूर तुम्हारे पास खड़ा होता बड़ी लकीर तुम एकदम छोटे हो जाते हो तुम छोटे नहीं होना चाहते तुम्हें अपमान लगता है इस आदमी ने छोटा कर दिया तुम इस लकीर को मिटा देते हो इस लकीर को मिटने से तुम्हारा दंश मिट जाता है तुम फिर वैसे के वैसे हो गए जैसे थे कुछ बदलाहट न हुई अवसर चूक गए एक महा अवसर चूक गए क्रांति का रूपांतरण का जो समझदार है वो इस बड़ी लकीर से बड़ी लकीर होने की कला सीख लेता है वो कहता है ठीक मैं छोटी लकीर हूं लकीर तो हूं ना तुम बड़ी लकीर हो लकीर ही हो ना हम दोनों लकीर मैं छोटी तुम बड़ी तो छोटी लकीर बड़ी हो सकती है नाराज क्या होना तुम अच्छे आए तुमने मुझे याद दिलाई कि मेरी लकीर बड़ी हो सकती तुम्हारा मैं अनुग्रह मानता हूं जो ऐसे बुद्धिमान है वो शिष्य हो जाते जो बुद्धू है वो दुश्मन हो जाते बुद्धू बहुत है बुद्धिमान बहुत कम है इसलिए ये कहानी पहले भी हुई अब भी हो रही आगे भी होगी तीसरा प्रश्न सुना है कि जिंदगी चार दिनों की होती है और मिलन पांचवें दिन होता है तो क्या करूं पांचवा दिन चार दिनों के पहले पांचवा दिन चार दिनों में किसी भी दिन आ सकता है दूसरे दिन आ सकता है तीसरे दिन आ सकता है चौथे दिन आ सकता है पहले दिन आ सकता है पांचवा दिन का अर्थ होता है परमात्मा से मिलन मृत्यु में होता जिंदगी चार दिन की है चार दिनों में नहीं होता परमात्मा से मिलन क्योंकि जिंदगी तुम्हारी अहंकार की है मिलन होता है मृत्यु में जो मिटता है उसका मिलन होता है वो पांचवा दिन वो जिंदगी के बाहर मरना सीखो मरने की कला ही धर्म है ऐसे मरने की कला कि फिर दोबारा पैदा भी नहीं होना पड़े ऐसे मरने की कला की मरे सो बिल्कुल मरे सदा के लिए मरे है बका का ख्वाहा तो तालिबे फना हो जा असली जिंदगी चाहते हो तो फना हो जाओ अस्तित्व चाहते हो वास्तविक अस्तित्व तो मिट जाओ है बका का ख्वाहा तो तालिबे फना हो जाए जिंदगी के मुतलासी मर गए आशना हो जाए जीत के समझ मानी राज मौत का पाले मर के बेनिशा हो जा जी के लापता हो जा अगर जिंदगी का राज समझना हो तो मौत का राज समझ लो मौत में कुंजी रखी जिंदगी की तुम जिंदगी में तलाशते रहते हो इसलिए राज नहीं मिलता राज उन्हें मिलता है जो मृत्यु में तलाश लेते तुमने कहानियां सुनी है ना पुरानी बच्चों की कहानियों में अब भी ऐसा आता कि कोई राजा है उसने अपने को बचाने के लिए अपनी जिंदगी एक तोते में रख दी अपनी आत्मा एक तोते में रख दी अब तुम राजा को कितना ही मारो मार ना पाओगे क्योंकि उसकी जिंदगी तोते में तोते को मरोड़ दो तोते की गर्दन मरोड़ दो राजा मर जाएगा ये कहानियां बड़ी अर्थपूर्ण है ये बच्चों की कहानियां हैं बूढ़े भी इनको समझते नहीं इसका मतलब ये हुआ कि जहां तुम्हें जिंदगी दिखाई पड़ती है वहां जिंदगी नहीं जिंदगी का राज कहीं और छिपा है तुम सोच भी नहीं सकते वहां छिपा है छिपती ही चीजें ऐसी जगह हैं जहां तुम सोच ना सको इसलिए जो होशियार है वो चीजें ऐसी जगह छिपाते हैं जहां सोची ना जा सके जैसे समझो तुम्हारे पास हीरा है और तुम्हारे घर में जो कूड़ा करकट है उसमें तुम छिपा दो कोई चोर उसे न चुरा सकेगा कूड़ा करकट में कोई हीरा छिपाता खोजेगा तिजोड़ी में खोजेगा जहां बड़े ताले लटके होंगे खोजेगा जमीन खोदेगा जमीन वहां खोजेगा कोई सोच भी नहीं सकता कि हीरा जो है वो बाहर जो बाल्टी रखी जिसमें घर का कूड़ा करकट फेंका जाता उसमें छिपा होगा जिंदगी का राज मौत में छिपा है कोई सोच भी नहीं सकता मौत तो जिंदगी से उल्टी जिंदगी का राज वहां क्यों होगा जीत के समझमानी राज मौत का पाले मर के बेनिशा हो जा जी के लापता हो जा इस ढंग से जियो कि तुम्हारा पता खो जाए इस ढंग से मरो कि तुम्हारा निशान भी ना रह जाए है बका का ख्वाहा तो तालिबे फना हो जा जिंदगी के मुतलासी गए आसना हो जा जीत के समझमानी राज मौत का पाले मर्ग बेनिशा हो जा जी के लापता हो जा वसले दोस्त के तालब वसले दोस्त की खातिर आरजू को सरतापा सर बसर दुआ हो जा ख्वाहिशों से दुनिया की दिल को अपने कर खाली हो के उसका ही रह जा उसकी ही रजा हो जा दिल में हो ख्याल उसका आंख में हो जमाल उसका गैर के तस्वर से गैर आशना हो जा सब में हुस्न से इसकी नूरे सिदक कर हासिल सीसाए मोहब्बत में जलवाए सफा हो जा गैर और अपने का खुद ब खुद मिटेगा फर्क या मिटा दे अपना आप या खुद आशना हो जा हर किसी से उल्फत कर हर किसी की खिदमत कर खादी में बसर बनकर बंदाए खुदा हो जा एक ही उपाय पांचवा दिन चार दिन जिंदगी के ये जिंदगी के चार दिन ऐसे ही बीत जाते हैं दो आरजू में दो इंतजार में दो मांगने में दो प्रतीक्षा करने में कुछ हाथ कभी लगता नहीं पांचवा दिन असली दिन है जब भी तुम्हें समझ आ गई इस बात की कि मेरा होना ही मेरे होने में अड़चन है क्योंकि मेरे होने का मतलब है कि मैं परमात्मा से अलग हूं मेरे होने का मतलब है कि मैं इस विराट से अलग हूं मेरे होने का मतलब है कि मैं एक नहीं संयुक्त नहीं इस परिपूर्ण के साथ एक रस नहीं यही तो अड़चन है यही दुख है यही नर्क है दीवाल हट जाए ये मेरे होने का भाव खो जाए मृत्यु मृत्यु का अर्थ अर्थ ये नहीं कि तुम जाके गर्दन काट लो अपनी मृत्यु का यह अर्थ नहीं कि जाके जहर पी लो मृत्यु का अर्थ है अहंकार काट दो अपना मैं हूं तुझसे अलग ये बात भूल जाए मैं हूं तुझ में मैं हूं ऐसे ही तुझ में जैसे लहर सागर में लहर सागर से अलग नहीं हो सकती कितनी ही छलांग ले और कितनी ही ऊंची उठे जहाजों को डुबाने वाली हो जाए पहाड़ों को डुबा दे लेकिन लहर सागर से अलग नहीं हो सकती लहर सागर में सागर की ऐसा ही तुम हो विराट चैतन्य के सागर की एक छोटी सी लहर एक उर्मी एक किरण अपने को अलग मानते हो वही अड़चन शुरू हो जाती वहीं से परमात्मा और तुम्हारे बीच संघर्षम शुरू हो जाता है और उससे लड़के क्या तुम जीतोगे कैसे जीतोगे क्षुद्र विराट से कैसे जीतेगा अंश अंशी से कैसे जीतेगा लहर सागर से लड़के कैसे जीतेगी कितनी ही बड़ी हो सागर के समक्ष तो बड़ी छोटी है ये भाव तुम्हारा चला जाए उसका नाम मृत्यु मैं सागर की लहर हूं सागर मुझ में मैं सागर में मेरा अलग थलग होना नहीं और उसी क्षण तुम पाओगे पांचवा दिन घट गया फिर भी तुम जी सकते हो बुद्ध का पांचवा दिन घटा फिर चालीस साल और जिए मगर वो जिंदगी फिर और थी उस गुणधर्म और था उस जिंदगी का उस जिंदगी का रस और था उत्सव और था फिर सच में जिए उसके पहले जिंदगी क्या जिंदगी थी बुद्ध अपने शिष्यों को कहते थे तुम अपनी जिंदगी उसी दिन से गिनना जिस दिन से सन्यास लो उसके पहले की जिंदगी गिनती मत करना तो कभी कभी बड़ी अनूठी घटना घटती थी उस समय का एक बड़ा सम्राट प्रसेंजित बुद्ध के दर्शन को आया वो पास ही बैठा था तभी एक भिक्षु आया जिसकी उम्र होगी कोई पचहत्तर वर्ष बूढ़ा आदमी उसने झुक के बुद्ध को नमस्कार किया बुद्ध ने पूछा भिक्षु वो अक्सर पूछते थे अक्सर क्या निरंतर ही जो आता उसी से पूछते थे भिक्षु तेरी उम्र कितनी उस बूढ़े भिक्षु ने कहा चार वर्ष प्रभु प्रसन्नजित तो बड़ा हैरान हुआ उसने कहा हद हो गई चार वर्ष दो चार वर्ष कम ज्यादा कहे तो समझ में आ जाए पचहत्तर का दिखता है सत्तर का होगा पैंसठ का होगा कि अस्सी का होगा मगर पचहत्तर साल दिखने वाला आदमी चार साल का है सोचा कि शायद ठीक से सुन नहीं पाया तो प्रश्न ने कहा कि महानुभाव में ठीक से सुन नहीं पाया आपने क्या उत्तर दिया जरा जोर से कहें कितनी उम्र आपकी उस बूढ़े ने कहा महाराज चार वर्ष प्रसन्नजित ने बुद्ध की तरफ देखा बुद्ध हंसने लगे उन्होंने कहा तुम्हें शायद पता नहीं हम किस तरह उम्र गिनते ये आदमी चार साल पहले संन्यास्त हुआ तो यही इसकी उम्र है बाकी इकहत्तर साल तो नींद में गए सोया सोया था ध्यान की भनक ही ना पड़ी थी उस नींद को क्या गिनना रात को क्या गिनना अंधेरे को क्या गिनना वो गिनती फिजूल है इसलिए हम उस दिन से गिनते हैं जिस दिन से व्यक्ति ध्यान में उतरा जिस दिन से व्यक्ति स्रोतापन्न हुआ जिस दिन से उसने सत्य को खोजने की तलाश में पहला कदम उठाया उस दिन से उम्र गिनते बुद्ध का पांचवा दिन चालीस साल के थे तब आया फिर चालीस साल और जिए मगर ये जो चालीस साल थे किसी और ही महिमा के इनकी गरिमा और ये परमात्मा में ये भगवत्तापूर्ण इनमें क्षुद्रता न रही फिर सीमा न रही फिर चालीस साल तक लहर की तरह जिए फिर पांचवा दिन आ गया और फिर शेष चालीस दिन सागर की तरह जिए पांचवा दिन आने दो पांचवा दिन बड़े से बड़ा सौभाग्य है अंतिम प्रश्न परमात्मा कहां है और मैं उसे कहां खोजू परमात्मा कहा नहीं है तुम कहां हो जो उसे खोजोगे ठीक प्रश्न ये होगा तुमने एक बात तो मान ही ली कि मैं हूं वही भूल हो रही है उसी भूल के कारण दूसरी भूल हो रही कि परमात्मा कहां है जब तुम हो तो परमात्मा नहीं हो सकता तुमने कभी बच्चों की किताब में एक चित्र देखा एक जवान स्त्री का चित्र होता है गौर से देखते रहो तो थोड़ी देर में वो बूढ़ी का चित्र हो जाता फिर गौर से देखते रहो तो फिर जवान स्त्री का चित्र हो जाता तुमने कभी विचार किया उस चित्र पर वे ही रेखाएं जो जवान स्त्री का चेहरा बनाती वे ही रेखाएं थोड़ा घूम फिर के बूढ़ी स्त्री का चेहरा बनाती दोनों एक दूसरे में छिपे हैं जब तुमने पहली दफा देखा हो सकता बूढ़ी दिखाई पड़ी जब तक तुम्हें बूढ़ी दिखाई पड़ती रहेगी तब तक जवानी दिखाई पड़ेगी ख्याल रखना अगर तुम देखते रहे देखते रहे तो आंखें ज्यादा देर किसी एक चीज पे थिर नहीं रह सकती आंखों का स्वभाव चंचल है तो जब तक तुम बूढ़ी को देखते रहे देखते रहे देखते रहे थोड़ी देर में आंखें ऊब जाती अब बूढ़ी को नहीं देखना चाहती अब नई की तलाश शुरू होती आंखें चंचल है उस नई तलाश में अचानक तुम पाते हो अरे ये रेखाएं तो एक जवान चेहरा बना रही फिर जवान स्थिति दिखाई पड़ने लगी जब तुम्हें जवान स्थिति दिखाई पड़ने लगेगी तब तुम ये मत सोचना कि तुम्हें बूढ़ी दिखाई पड़ती रहेगी दो में से कोई एक ही दिखाई पड़ सकता है हालांकि तुमने बूढ़ी भी देखी ऐसा भी नहीं कि तुमने न देखी हो पहली दफा जब देखा था तब तक तुम्हें पता नहीं था कि दो छिपे अब तो तुम्हें पता है तुमने बूढ़ी भी देख ली तुमने जवान भी देख ली अब तुम दोनों को एक साथ देखने की कोशिश करना और तुम मुश्किल में पड़ जाओगे इस छोटे से चित्र में तुम दोनों को एक साथ कभी ना देख पाओगे एक ही देखा जा सकता क्योंकि वे ही रेखाएं जो जवान को बनाती वे ही रेखाएं बूढ़ी को बनाती अगर उन रेखाओं की एक व्याख्या दिखाई पड़ रही जवान तो दूसरी व्याख्या कैसे दिखाई पड़ेगी दूसरी व्याख्या दिखाई पड़ी कि पहली व्याख्या खो जाएगी और ऐसी ही दशा है इस अस्तित्व की जब तक तुम हो परमात्मा नहीं जब परमात्मा है तुम नहीं दोनों एक साथ न कभी दिखाई पड़े हैं न दिखाई पड़ सकते तुम पूछते हो परमात्मा कहा है ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि तुमने मान लिया कि मैं हूं तुमने एक गेस्टाल्ट एक व्याख्या स्वीकार कर ली कि मैं हूं बस परमात्मा नहीं दिखाई पड़ेगा परमात्मा भी यही छिपा है इन्हीं वृक्षों की रेखाओं में इन्हीं मनुष्यों की रेखाओं में इन्हीं स्त्री पुरुषों में इन्हीं पहाड़ नदियों में इन्हीं आकाश चांदारों में परमात्मा भी यही छिपा है लेकिन तुमने अहंकार को खोज लिया अहंकार भी यहां है बस परमात्मा दिखाई पड़ना बंद हो गया अब तुम इस अहंकार को लेकर खोजते रहो खोजते रहो परमात्मा को कभी ना पा सकोगे उसे पाओगे तभी जब ये अहंकार तुम्हारे हाथ से छिटक जाएगा एक क्षण को भी भूल जाओगे इसे उसी क्षण तुम पाओगे परमात्मा तब दूसरा प्रश्न उठेगा कि परमात्मा तो है मैं कहा कबीर ने कहा हेरत हेरत है सखी रहा कबीर हेराई खोजते खोजते परमात्मा को एक दिन ऐसी घड़ी आई कि कबीर खो गया और जहां कबीर खो जाता है वही परमात्मा प्रकट होते बुंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाई हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई इसी अनुभव के बाद कबीर ने कहा है प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए एक ही समाता है अब तुम पूछते हो परमात्मा कहा है मैं तुमसे पूछता हूं परमात्मा कहां नहीं है मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं तुम कहां हो उसी खोज में लगो रमन महर्षि कहते थे एक ही पूछो प्रश्न मैं कौन हूं बस इसी को खोजते चले जाओ अनेक लोग जो रमण को मानते हैं वो सोचते हैं ये प्रश्न पूछने से कि मैं कौन हूं एक दिन पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं उन्हें पता ही नहीं कि रमन का मतलब क्या है मैं कौन हूं पूछते पूछते पूछते खोदते खोदते एक दिन तुम्हें पता चलेगा मैं हूं ही नहीं और जिस क्षण तुम्हें पता चलेगा मैं हूं ही नहीं उस क्षण पता चल जाएगा कि परमात्मा कहा है परमात्मा क्या है छीलते जाओ अपने अहंकार की प्याज को एक परत नई परत आ जाती दूसरी परत निकाली फिर एक तीसरी परत आ गई छीलते जाओ अहंकार की प्याज को एक दिन शून्य हाथ में रह जाएगा ऐसे ही पूछते जाओ मैं कौन शरीर शरीर तो मैं नहीं हो सकता क्योंकि शरीर में पीड़ा होती मुझे पता चलती शरीर कभी जवान होता कभी बूढ़ा होता मैं ना तो कभी जवान होता ना बूढ़ा होता मैं शरीर में भीतर छिपा हूं शरीर नहीं एक प्याज की पर छिल गई पूछो मैं मन हूं विचार हूं कैसे हो सकता हूं मैं विचार क्योंकि विचार मेरे सामने घूमते तुम फिल्म देखते हो जाके तुम फिल्म तो नहीं हो सकते क्योंकि फिल्म तुम्हारी आंख के सामने चलती पर्दे पर तुम दर्शक हो दृष्टा हो और मन के पर्दे पर फिल्म चलती विचार की अनंत अनंत विचार चलते मैं विचार नहीं हो सकता दूसरी परत निकल गई मैं भाव हूं हृदय हूं भावना हूं नहीं हो सकता जब क्रोध उठता तब तुम जानते क्रोध उठ रहा जब प्रेम उठता तब तुम जानते प्रेम उठता तुम देखने वाले हो तुम ज्ञाता हो साक्षी हो ये भी मैं नहीं हूं ऐसे परत दर परत प्याज के छिलके निकलते चले जाते एक दिन अचानक तुम पाते हो सारी परतें निकल गई हाथ में शून्य रह गया मैं हूं ही नहीं जिस दिन ये घटता है कि मैं हूं ही नहीं मैं शून्य हूं इसको बुद्ध ने कहा अनत्ता अनात्मा मैं हूं ही नहीं जिस क्षण ये घटा उसी क्षण चित्र बदल जाता गेस्टाल्ट बदल जाता अचानक दिखाई पड़ता सब तरफ परमात्मा है कण कण में परमात्मा है क्षण क्षण में परमात्मा है लेकिन तुम्हारा प्रश्न भी मैं टालना नहीं चाहता तुम्हारा प्रश्न भी सार्थक है तुम्हारी दृष्टि से मैं चाहूंगा कि तुम ये पूछो कि परमात्मा कहा नहीं लेकिन तुम कैसे पूछ सकते हो वो मेरा प्रश्न है मैं चाहूंगा कि तुम पूछो कि मैं कहा हूं मैं कौन लेकिन वो तुम अभी नहीं पूछ सकते अभी हिम्मत नहीं इतनी पूछने की कि मैं कौन हूं क्योंकि डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं हूं ही ना ऐसा ना हो कि मैं हूं ही ना ऐसा डर लगता तो ऐसा खतरनाक प्रश्न पूछना ठीक नहीं तुमने कभी देखा प्रयोग करके यहां हम प्रयोग करते बहुत तरह के उनमें एक प्रयोग यही है अट्ठारह घंटे का एक प्रयोग है सतत यही पूछने का कि मैं कौन अठारह घंटे तक और कुछ नहीं पूछना एक ही बात पूछनी कि मैं कौन मैं कौन थोड़ी देर में मस्तिष्क पगलाने लगता है घबराने लगता है बेचैन होने लगता पसीना पसीना होने लगता अट्ठारह घंटे तक सतत मैं कौन मैं कौन मैं कौन तीन चार घंटे के बाद तुम पाते हो कि खोपड़ी घूमी जा रही छह सात घंटों के बाद तुम पूछ पाते हो कि सारा जगत घूम रहा है मैं कौन हूं मैं कौन हूं एक नशा एक खुमारी चढ़ने लगती अठारह घंटे पूरे होते होते कुछ क्षणों के लिए फिर जाते हो तुम एकदम सन्नाटा छा जाता है कोई नहीं रह जाता पूछने वाला नहीं रह जाता एक शून्य पकड़ लेता है उसी पकड़ने में पहली दफा झलक मिलती परमात्मा है वह तो जब होगा होगा जब उतनी हिम्मत जुटाओगे तब अभी इतना तो कर ही सकते हो कि जरा गौर से देखने लगो जब वृक्षों को देखो तो जरा गौर से देखो वे भी जीवन थे जीवन परमात्मा का रूप है हरियाली उन पर तो खिले फूल वो भी परमात्मा के जीवन का ढंग है नदी को बहते देखो तो बहाव परमात्मा का है गति परमात्मा की गत्यात्मकता परमात्मा है किसी बच्चे को खिलखिलाते देखो हंसी परमात्मा है खिलखिलाहट परमात्मा है उत्सव परमात्मा है किसी की आंख में आंसू देखो करुणा परमात्मा है अनुकंपा परमात्मा है इस स्मरण को जगाए चलो खोजो जरा गौर से धीरे धीरे तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ेगी और तुम्हें कभी कभी किसी वृक्ष में कभी किसी तारे में कभी किसी चेहरे में परमात्मा की झलक मिल जाएगी अभी उसी झलक से भरोसा रखो एक झलक मिले एक चुस्की ले ली ऐसे धीरे धीरे पोषण मिलेगा तू आज तोड़ दे सब बुत उस एक बुत के सिवा फंसा जंगो जदल तर्क कर मोहब्बत कर कि आस्तियो मोहब्बत में खुदा की रजा समझ ले सच्ची इबादत के आज मानी तू तब हब मयात के असनाम की न कर पूजा खुदा को देख मुजस्म खुदा के बंदों में खलूसे खिदमते खलके खुदा की मांग दुआ यही है जिंदा खुदा जीता जागता माबूत वो खाली हाथ रहेगा जो इसको पाना सका इसी के आगे झुका दे सरे नमाज अपना तू आज तोड़ दे सब बुत इस एक बुत के सिवा ये जो चारों तरफ फैला हुआ निसर्ग है इस एक प्रतिमा के सिवा और सारी प्रतिमाएं भूल जाओ तुम्हारे मंदिरों में रखी प्रतिमाएं भगवान नहीं वे तुम्हारे हाथ के बनाए गए खिलौने तुम्हारा कृत्य सुंदर होंगे मगर खिलौने परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति में उसे खोजो अगर खोजना आदमी के बनाए खिलौनों में मत खोजो हिंदू मुसलमान ईसाई के खिलौनों में मत खोजो मंदिरों में नहीं पाओगे उसे जब तक तुम उसे वृक्षों में पहाड़ों में पर्वतों में नहीं पा लेते पहले यहाँ पाओ इतने विराट फैलाव में तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता इतना जीवंत इतना हरा भरा तुम जाते मंदिर की तरफ एक मुर्दा आदमी के द्वारा बनाई गई मूर्ति की पूजा करने तू तोड़ दे आज सब बुद्ध इस एक बुद्ध के सिवा यह एक प्रतिमा ही परमात्मा के लिए काफी है ये आकाश ये चांदारे ये लोग ये अस्तित्व फसादो जंगो जदल तर्क कर मोहब्बत कर छोड़ो बकवास कि कौन सही हिंदू के मुसलमान कि विवाद छोड़ो कि कुरान की वेद सही छोड़ो तर्क एक काम करो फसादो जंगो जदल तर्क कर छोड़ दो ये सब फसाद ये विवाद मोहब्बत कर कि आस दियो मोहब्बत में खुदा की रजा प्रेम में ही खुदा राजी होता प्रेम में ही परमात्मा तुमसे राजी होता प्रेम उसकी एकमात्र प्रार्थना है समझ ले सच्ची इबादत के आज मानी तो तू आज तोड़ दे सब बुद्ध इस एक बुद्ध के सेवा प्रकृति में खोजो यही इबादत है यही प्रार्थना है तब हम मयात के स्नान की न कर पूजा आदमी के द्वारा बनाई गई मूर्तियों की पूजा से कुछ भी ना होगा बहुत हो चुकी पूजा आदमी के द्वारा रची गई प्रार्थनाएं बहुत हो चुकी कहीं नहीं पहुंची अब तो परमात्मा के कृत्य में ही उसे खोजो सृष्टा को खोजना हो उसकी सृष्टि में खोजो खुदा को देख मुजस्स खुदा के बंदों में ये जो खुदा ने बनाए हैं लोग ये जो खुदा ने बनाई है वस्तुएं इनमें उसे देखो खुदा को देख मुजस्स खुदा के बंदों में खलू से खिदमत खल के खुदा की मांग दुआ और ये जो चारों तरफ मौजूद है इसकी प्रार्थना करो इसके सामने झुको झुकने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं जहां हो वहीं जो सौंदर्य ने तुम्हें घेरा है इसके सामने झुको यही है जिंदा खुदा जीता जागता माबूत ये जो जीता जागता अस्तित्व है ये जो प्रकृति यही है परमात्मा पूछते हो परमात्मा कहाँ है यहाँ है यही है जिंदा खुदा जीता जागता माबूद वो खाली हाथ रहेगा जो इसको पाना सका इसी के आगे झुका दे सरे नमाज अपना तू आज तोड़ दे सब बुत इस एक बुत के सिवा आज अपना